दोस्तों मैं समझता हूँ कि इन बच्चों के जो उस्ताद हैं उनको मुबारकबाद पेश की जाए जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में इनकी उंगलियों में बिजलियाँ भर दी हैं तो दोस्तों ये